प्रभु सचमुच है धर्मावतार मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ हे नाथ धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को अन्यथा मात्र तो आया है करने स्वामी की सेवा को लंका में रह कर भी सुखेण है नहीं दसानन के दल का सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का बोले नाड़ी देख फिर तुरंत वैद्य कुर कुलरत्न गहरी भारी चोट है है अति दूर प्रयत्न सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ित जीवन है अन्यथा असंभव है उठना विष्णु निर्जीव किया तन है अत्यंत दूर है औषध भी आ सकते नहीं रात ही में ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यही रात ही में ला सकता है दास यह प्रभुपद की है आन आकू दे तक्षण वही यह कहते हनुमान भूतल में हो या नभ में हो पर्वत में हो या सागर ही में लाएगा दास अभी उसको चाहे तो ब्रह्मा के घर में बतलाओ उसका रूप रंग किस ठोर हाथ वह आएगी रघुराय अगर सहाय है तो रात रहे आ जाएगी इस साहस पर वैद्य भी बोले कर उल्लास जय उसकी जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास अच्छा बलवीर वीर बढ़ो आगे तुम ले आओगे औसधव उत्तर में जो गिर है उस पर पाओगे औषधव संजीवनी उसको कहते हैं ज्वाला की भात चमकती है यदि नहीं और तक आई वह नहीं यदि भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है वैद्यराज के साथ ही बोल उठे युवराज वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज कविपति की तुमने रक्षा के कुपियों को तुमने तारा है वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है अब जान ढाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना बलवीर बुटे लाइयो वह जाए समय समय पर राम के हरे तुम्ही ने धीर बलवीरा बेगो बुटी लाइयो वह जाए आज अचानक पड़ी है फिर भारी भीड़ संकट के साथी दो यह पीर मिटाए बलवीर बेगी बुटे लाइयो वह जाए लखन लाल के देह में व्यापा विष भरपूर भरत भ्रात है अवध में अवधपुरी अति दूर ऐसे में भैया तुम्हें करोगे सहाय गोद सुमित्रा मात की भरी रहे कपिनाथ है सुहाग और मिला काम आज तुम्हारे हाथ हे जीवन दाता संजीवनी राय बलवीरा बेगी बूटी लाइयो वह जाए समय समय पर राम की धरी तुम्हें ने थी बलवीरा बेगी बुटी लाइयो वह जाए इस प्रकार जब राम ने कहे वचन गंभीर शेष नमा हनुमत चले कह जय श्री रघुवीर कल्पना देर कर जाती है पर देर नहीं की जंगी ने मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने जो बल सूरज पर झपटा था लंका को जो झुलसाता था वही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था उधर नहीं निश्चिंत था लंका वे दस भाल पहुँचाते थे गुप्तचर पल पल का सबहाल सुना जब हनुमान का उसने प्रबल पयान अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान काल ने मिले पहुँच कर ऐसा किया उपाय महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए निशा काल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम चतुर अंजनी लाल जब गए चाल यह ताड़ चट लपेट नांगूल से निश्चर दिया पछाड़ इस प्रकार उस मार्ग में काल ने मिको मार चले पवन सुत इस तरह करते हुए विचार हे सूर्य देव ध्यान रखना इतना संकट अब सूर्य वंश पर है लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुँचा दूँ मैं उस समय प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूँ मैं मेरी सेवा के पहले दिन यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा आशा है स्वल्प प्रार्थना है यह सच्चे जी से स्वीकारेंगे आतुर के आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे अन्यथा क्षमा करना दिन कर अंजनी तनय से पाला है बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है मुख में तुमको धर रखने को फिर आज क्रूर साधना होगा बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा पहुँचे द्रोड़ा गिर जभी वीर अंजनी लाल देखा सारी बूटियाँ बनी हुई है जाल रावण ने इस जगह भी खेली थी यह चाल भेज विमानों पे सचिव करा दिया गिरलाल दीपावली तारावली समान सारा ही शैल धमकता था चक्कर में पड़े वहाँ हनुमत बूटी का पता न चलता था जितने बलशाली होते हैं वे अधिक विचार न करते हैं अब आता है आवेश उन्हें तो मन चाहा कर उठते हैं हनुमत में भी उठी तरंग सोचा छोड़ो इस हुज्जत को देखा भाली का समय नहीं ले चलो उठा कर पर्वत को यह सोच उठाया वही भाग प्रेरणा मिली जो रह रह कर बाएं कर उसको धारण कर चल दिए राम की जय कहकर बानर वर गिरवर लिए जाय है सुरमुनि सब हर्ष भुवन सब निरखे स्वामी का काज सेवक किए आज है जो भय नहीं लाते वही जय पाते हैं जगत को यह शिक्षा दिए जाय है गगन मार्ग से रात्रि में शैल सहित हनुमंत चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत तले पड़ा बलधाम के जब ही अयोध्या धाम परवश ही करना पड़ा इन्हें वहाँ विश्राम घटना यह थे रण शक्ति लगे जब लखन लाल जी के उर्वे देखा तब मात सुमित्रा ने दुस्वप्न यहाँ कौशलपुर में तत्काल छोड़कर नंदग्राम आ गए भरत सुन दुख उनका प्रारंभ कर दिया शांति यज्ञ परिणाम सोच कर अपसगुन का इतने में आधी के समान अंजलि सुत आया ऊपर को उत्पाद समझ कर भरत उठे कुछ बाण चलाया ऊपर को एक बात है इस जगह कह देने की खास शैल लिए जा रहे थे जब रघुवर के दास